तो विक्रांत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि अशोकन अपना जुर्म कबूल कर ले। लेकिन अभी तक अशोकन ने चू तक नहीं किया था उसने एक बार भी खुद को नरम नहीं पड़ने दिया था क्या हुआ ठीक इसी समय यहाँ पर त्रिवेंद्रम पुलिस के senior officer mister P K Madhu भी पहुंच गए जब उन्होंने ऑफिस के भीतर अजीब तरह की अफरा तफरी का माहौल देखा तो उन्होंने तुरंत ही सबको शांत करते हुए कहा एक मिनट शांत हो जाइए शांत हो जाओ सब लोग अपने सीनियर ऑफिसर को इस तरह चिल्लाते देख वहाँ पर मौजूद सभी पुलिस वाले बिल्कुल शांत हो गए अशोकन वहीं चुपचाप अपनी जगह पर ठहर गया विक्रांत जी अभी फोन पर मैंने सब कुछ सुन लिया है पी के मधु ने विक्रांत की तरफ देखते हुए बेहद सीरियस लहजे में बोलना शुरू किया विक्रांत भी उनकी तरफ थोड़ी अजीब सी नजरों से देखने लगा फिर उन्होंने आगे बोलते हुए कहा देखिए विक्रांत जी मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं मान रहा हूँ कि अशोकन ने फिल्म क्रू के लोगों का मर्डर किया है और आप उसके ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं जो भी शक कर रहे हैं सब सही है लेकिन मैं आपसे कम से कम इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप मेरे कलीग और उसकी फैमिली के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आए अगर अशोकन वाकई में मर्डर है तो आप मेरा यकीन कीजिए हम लोग उसे सजा दिलाने में कोई कोताही नहीं करेंगे बल्कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे इस जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि सब क्लियर भी हो जाए अगर कोई गलतफहमी हुई है तो भी दूर हो जाना चाहिए गलतफहमी पीके सर मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपकी बात ना होती और आपके रेपुटेशन की बात ना होती तो मैं ना जाने कब का इसे जेल में डालकर सब कुछ उगलवा चुका होता मेरे काम करने का तरीका बहुत अलग है बड़े बड़े मुजरिम मेरा नाम सुनते ही सब कुछ उगलना शुरू कर देते हैं यहाँ तो मैं बस आपकी रेपुटेशन का थोड़ा ध्यान रखना हूँ वरना कब का मैं ये केस रफा दफा करके यहाँ से चला गया होता विक्रांत ने अशोकन को घूरते हुए कहा सर इसकी माँ ने तो सब कूल कर ही लिया है बस ये बचा हुआ है थोड़ा टाइम दीजिए इसका भी खेल खत्म कर दूंगा तुम झूठ बोल रहा है अशोक ने रोते हुए कहा मेरी माँ को तुम डरा कर उससे अपने मन का बयान देने को कहा रहा है उसने सब कुछ तुम लोगों को डर से बोला है अच्छा हमारे ऑफिसर्स ने इसकी माँ बासुरहरी से बात किया है उस लेडी ने सब कुछ सच सच बताया हमारे पास उसका वीडियो भी है विक्रांत ने पीके सर की तरफ देखते हुए कहा ठीक है कोई बात नहीं पीके ने अपना हाथ हिलाते हुए विक्रांत से कहा अब आप सारी सच्चाई तो सामने ला ही चुके हैं तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इंस्पेक्टर अशोकन को पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं और फिर वहां पर भी इनकी माता जी को बुला लेते हैं और फिर हम लोग प्रॉपर प्रोसीजर से इंटेरोगेशन कर सकते हैं पी के मधु साहब का कहना बिल्कुल सही था उसमें कुछ भी गलत नहीं था जाहिर है अभी तक तो इंस्पेक्टर अशोकन और उसकी माँ बासु लहरी को सस्पेक्ट के तौर पर ही देखा जा रहा था ऐसे में उनसे जो भी पूछताछ होनी चाहिए वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ही होनी चाहिए हालांकि इस वक्त विक्रांत को ये भी अच्छे से पता था कि जब तक अशोकन यहाँ उसके ऑफिस में मौजूद है तभी तक उसके पास मौका है कि वो अशोकन को जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर सकता है अशोकन को गुनाहगार साबित करने के लिए इस वक्त विक्रांत के पास सबसे अच्छा मौका है क्योंकि अभी विक्रांत भी बिल्कुल फ्लो में है और अशोकन भी इमोशनली ब्रेक हो चुका है ऐसे में अगर अभी लय तोड़कर अशोकन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा तो न सिर्फ उसका मनोबल बढ़ जाएगा बल्कि इतनी देर में वो खुद को बेकसूर साबित करने का अच्छा खासा प्लान भी बना लेगा अशोकन बहुत शातिर दिमाग का आदमी है ये सब सोचकर विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखकर इशारे में ही सवाल किया क्या उसे बासु लहरी की तरफ से कोई न्यूज मिली क्या उसने सब कुछ कबूल किया है कि नहीं हर्षित भी विक्रांत के इशारे को तुरंत समझ गया और उसने अपना सिर हिलाते हुए विक्रांत को जवाब भी दे दिया कि बासु ने अभी तक सिर्फ इतना एक्सेप्ट किया है कि उसने अकेले ही फिल्म क्रू के लोगों का मर्डर किया है उसने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसके साथ अशोकन भी इस मर्डर में इन्वॉल्व था यहाँ तक कि उसने अभी तक मर्डर करने की कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया था वो बार बार पुलिस वालों से बस इतना ही कहे जा रही थी कि फिल्म क्रू के लोगों को मैंने मारा है इसलिए मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं है वो बेकसूर है अगर अशोकन की माम बासु ने मर्डर के बारे में और कुछ नहीं बताया और इधर अशोकन ने भी अंत तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो फिर विक्रांत के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली थी इस कंडीशन में उसके लिए केस क्लोज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा विक्रांत अभी ये सब चीजें सोच ही रहा था कि सीनियर ऑफिसर पी के मधु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा विक्रांत जी कैसा रहेगा ये चलिए हम लोग अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और फिर वहाँ से जो करना हो आप करिए क्योंकि विक्रांत के पास इस वक्त पी के साहब का प्रस्ताव ठुकराने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था सो तो उसने निराश होकर अपना सिर हिलाते हुए उनकी बातों से सहमति जता दिया पीके साहब ने भी तुरंत वहां पर मौजूद पुलिस वालों की तरफ देखते हुए तुरंत पुलिस स्टेशन चलने का इशारा कर दिया कुछ पुलिस वाले ने अशोकन को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसे लेकर बोर्ड से बाहर की तरफ चलने लगे जब अशोकन विक्रांत के ठीक बगल से निकल रहा था तो उस वक्त वो विक्रांत को बेहद गुस्से से भरी निगाहों से घूर रहा था उसकी आंखों में डर घबराहट गुस्से और बदले के भाव एक साथ देखे जा सकते थे जब विक्रांत ने अशोकन को वहां से ले जाते हुए देखा तो उस वक्त उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी वो जानता था कि अशोकन को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद ये केस उसके हाथ से निकल सकता है क्योंकि पुलिस स्टेशन पर उसके पहुंचने के बाद उससे रेगुलर प्रोसीजर के तहत ही पूछताछ की जा सकेगी और अशोकन जैसे शातिर दिमाग के आदमी से रेगुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कुछ भी नहीं उगलवाया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर विक्रांत अशोकन के साथ ज्यादा सख्ती से भी नहीं पेश आ सकता और अशोकन ये अच्छे से बात समझता है जब तक वो खुद को मर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती ऐसे में विक्रांत किसी तरह से अपने गुस्से को काबू में लाते हुए फोन में देख रहा था वो इस उम्मीद में अपना फोन चेक कर रहा था कि उसे हर्ष या अनुष्का की तरफ से कोई गुड न्यूज मिल जाए लेकिन इस वक्त शायद विक्रांत की किस्मत ठीक नहीं थी उसे हर्ष या अनुष्का की तरफ से कोई गुड न्यूज तो नहीं मिली लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से एक बैड न्यूज जरूर मिल गया था मुंबई में स्थित सेंट्रल सीआईडी के हेडक्वार्टर में बैठे विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि विक्रांत त्रिवेंद्रम में बैठकर त्रिवेंद्रम पुलिस के ही सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन को इंटेरोगेट कर रहा है उन तक ये सारी खबर सीनियर ऑफिसर पी के मधु ने पहुंचाई थी ऐसे में उन्होंने विक्रांत के पास मैसेज करके सारी रिपोर्ट ली विक्रांत ने उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया और फिर वो अशोकन की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाने लगा कुछ भी हो जाए साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा देखता हूँ कि तू कब तक झूठ बोलता रहता है